सोच सनी है बस कहे भूप बिल खाए पर रामचंद्र की है पवन सुख हनुमान की है सब संतन की जय फिर तो कहते हैं जनक जी की अगम सब ही वर्णत बरबरणी कहते हैं इसीलिए कहा कि सभी लोगों के लिए अगम सब ही मन सबके लिए भरत जी की महिमा का वर्णन करना अगम है कोई भी नहीं कर सकता बरबरणी के माने संबोधन है हे वरबरणी सुनैना <clears throat> जो वर वर्ण का हो उसको वर वर्णी कर दिया वर्ण हाँ? तो वर श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर्ण का जो हो उसे वर वर्णी कर दिया तो कहते वर वर्णी अगम सब ही वर्णत इनके भरत के चरित्र का वर्णन करते हुए सबके लिए बड़ा कठिन है कोई भी उनका वर्णन नहीं कर सकता भरत कैसे हैं <clears throat> वर्णी का एक अर्थ ये भी है कि वर मन श्रेष्ठ वर्णी मन वर्णन करने वाली उन्होंने सुनैना जी ने भरत के चरित्र का वर्णन जनक जी से किया तब भरत जी की प्रतिक्रिया है <clears throat> वो सुनैना जी जी कौशल्या जी से सुन करके वहां से जो आई भरत के संबंध में तो वही बात फिर उन्होंने सुनैना जी ने जनक जी को सुनाई जब सुनाई भरत के इतने चरित्रों का जब वर्णन उन्होंने किया तो जनक जी भी कहते हैं कि देखो तुम वर वर्णनी हो मैंने बहुत सुंदर बात तुमने कही जो भरत की महिमा तुमने हमको सुनाई <clears throat> उनकी प्रशंसा तुमने की लेकिन वो तो उनकी प्रशंसा की जितनी भी की जाए थोड़ी ही है बरवर्णी के दोनों अर्थ हैं वर्णन करने से भी वर्णी हो गया और वर्ण से भी वर्णी हो गया दोनों प्रकार से हो सकता तो जिन जलहीन मीन गम धरणी ये कहते हैं कि इनका वर्णन करना भरत जी के चरित्र का वर्णन करना उनकी महिमा का वर्णन करना उसी प्रकार से कठिन है जैसे कि हाँ, मछली को भूम पर चलना कठिन है बिना पानी के भूम पर मछली चले तो कितना चलेगी वहीं फड़फड़ाएगी आगे नहीं बढ़ सकती इसी प्रकार से भरत के चरित्र की महिमा का वर्णन करने के लिए बुद्धि आगे बढ़े तो वहीं फड़फड़ाएगी उसका वर्णन नहीं कर सकती उसकी तुलना कर लो जिन जलहीन जैसे बिना पानी के मीन गम धरणी पृथ्वी के ऊपर मछली का चलना जैसे कठिन है उसी प्रकार से भरत की महिमा का गुणों का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है तो भरत अमित महिमा सुन रानी फिर कहते हैं कि हे रानी सुनो भरत की महिमा अमित है जिसकी कोई सीमा नहीं है हम्म? निरवधि जैसे कहा निरवध गुण जैसे इनकी कहते हैं उनकी महिमा जिसकी की कोई मिति नहीं है मैंने कोई सीमा नहीं है ऐसे उनकी भरत का चरित्र है और जान नहीं राम न कहीं बखानी अब कहते हैं कि क्या कोई नहीं जानता उनको कहते जानते हैं तो एक भगवान राम जानते हैं जान ही राम <clears throat> कि भगवान भरत जी की क्या अब भगवान स्वयं परम परमात्मा है परमात्मा तो परमात्मा को अपने आप को जानता ही है और परमात्मा जो जीव आत्म भाव को प्राप्त करके परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया तो परमात्मा ही जानता है कि इस जीव की क्या गति हो गई है उसके लिए कुछ छुपा नहीं है ऐसे भरत जी की स्थिति किस प्रकार की है वो भरत जी जो है वो वो भगवान श्री राम जी जानते हैं उनकी उस स्थिति को लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि न सतही बखानी भगवान श्री राम जी भी वर्णन करना चाहे उस स्थिति का वर्णन तो उनके भरत जी की महिमा का वर्णन वे भी नहीं कर सकते अब वर्णन करने की जब बात आएगी तो वो परमात्मा पहले बुद्धि के स्तर पर आवे मन के स्तर पर आवे फिर वाणी के द्वारा शब्दों का प्रयोग करे तो जब तक कि वो भौतिकता के स्तर पर नहीं उतरेगा तब तक वर्णन कैसे करे वो परमात्मा परमात्मा भाव में रह करके परमात्मा स्तर पर वर्णन करता रहे अपनी भाषा में अपनी दिव्य भाषा में है? हाँ? अपने आप में चैतन्य परमात्म चैतन्य की भाषा में ही उसको बोलता रहे तो अन्य लोग उसको क्या समझेंगे अन्य लोगों को समझने के लिए फिर वो भाव वो विचार परमात्म ज्ञान के विचार आने चाहिए बुद्धि में आमे मन में आमे तो फिर वो शब्द रूप धारण करें कोई भाव मन बुद्धि में जब आता है तो शब्द रूप धारण करता है जब मन में शब्द आया तो फिर पानी के द्वारा वो शब्द प्रकट होता है जब प्रकट होता है तब बोला जाता है अब शब्दों में शक्ति ही कितनी है शब्द तो लौकिक जगत का वर्णन करने के लिए हुआ करते हैं जितनी भाषा है वो तो भौतिक जगत लौकिक बातों का वर्णन करने के लिए होती है इतनी प्रकार की भाषाएं संसार में है लेकिन उनका प्रयोग संसार की ही बातों के लिए हुआ करता है उस सांसारिक भाषा के द्वारा परमार्थ की बातों का अगर वर्णन किया जाए तो उस भाषा में सामर्थ्य नहीं बस ये कहते हैं ऋषि मुनियों का ये कहना है कि उन्होंने इसी लौकिक भाषा को संस्कृत रूप में जो संस्कृत भाषा कहलाती है वो संस्कृत भाषा भी लौकिक भाषा ही है लेकिन उस लौकिक भाषा को उन्होंने ऋषियों मुनियों ने देववाणी बनाया इसलिए संस्कृत को देववाणी कहते हैं और फिर उसमें जो है वो एक तो लिटरल मीनिंग होता है एक इंडिकेटिव मीनिंग होता है तो उन्होंने फिर इस भाषा को इंडिकेटिव मीनिंग दिया सांकेतिक उसको सामर्थ्य प्रदान की तो ये भाषा फिर संस्कृत भाषा परमार्थ की ओर संकेत करके बोलने लगी कि परमार्थ किस प्रकार का है परमात्मा किस प्रकार का है उस स्थिति का वर्णन करने का उन्होंने प्रयास किया तो ये ये बात एक संस्कृत भाषा में ही ये बात है एक इस प्रकार की सामर्थ्य है इसलिए कहते हैं ये कि आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान चाहे परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो वो वैदिक भाषा से ही प्राप्त होता है उपनिषदों को सुने उपनिषदों के जो महावाक्य हैं वो व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न करते हैं जागृत करते हैं ये सब बात इसलिए कहते हैं <clears throat> कि देखो ये भाषा जो है उसके द्वारा जिसके द्वारा भगवान वर्णन करते हैं वो भी भाषा के द्वारा भरत जी के चरित्र का महिमा का वर्णन वो भी नहीं कर सकते वर्ण सप्रेम भरत अनुभाव मैंने यहाँ तक जनक जी ने भरत जी की महिमा बोली तो कहते हैं वर्ण सप्रेम बड़े प्रेम के साथ में भरत सतभाव वर्ण सदभाव का मान महिमा उनके सच्चे भाव का भरत का कैसा सच्चा भाव उनके हृदय में है उसको उन्होंने जनक जी ने बड़े प्रेम के साथ में सुनैना जी को सुनाया बोला उनको और फिर तीय जी की रुचि लकी कह राहू मैंने इसी के बीच में सुनैना जी बीच में भी कुछ बोलती रहे होंगे इतनी देर जनक जी बोलते रहे वो भी कुछ मैंने कोई ऐसा थोड़ा कि एक ही व्यक्ति बोलता है जब दो लोग व्यक्ति बातचीत करेंगे तो बीच बीच में बोलेंगे लेकिन लिखने में सब बार बार थोड़ी करेंगे उन्होंने ये कहा पर उन्होंने ये कहा पर उन्होंने कहा बीच बीच में नहीं बोलते हैं लेकिन बीच बीच में सुनैना जी ने ऐसा लगता है कि ये भी बता दिया कि देखो जब आप ये कहते हो कि भरत का, का प्रेम अद्वितीय है भगवान राम से बड़ा ही उनका प्रेम है बड़े ही गुणधान है बड़ी महिमावान है इसके माने भरत जी से जो है वो भगवान राम के बिना रह नहीं सकते ये भी सुझा दिया कहीं उन्होंने सुनैना जी ने जो कौशल्या जी ने जो उनसे बात कही थी वही सुनैना जी ने जनक जी से भी बोल दी किसी प्रकार से तो जनक जी समझ गए कि सुनैना जी क्या कहना चाहती हैं उनका मत ये है वो ये चाहती हैं कि भरत जी जो है राम जी के साथ जाए और लक्ष्मण जी जो है वहां से लौटा हुए ये बात उनकी समझ में आ गई जनक जी के तो उसके ऊपर कहते हैं कि बहु रही लखन भरत बन जाही सब कर भल सबके मन माही ये कहते तुम्हारा कहना ये ठीक है कि भरत भगवान श्री राम जी के साथ जाए और लक्ष्मण जी वहाँ लौट आवे अयोध्या में रहे अगर ऐसा होता है तो सब कर भल इसमें सभी का भला है और सबके मन माही और सब लोग चाहते भी यही है कि इस प्रकार की कुछ व्यवस्था हो जाए जिससे कि भरत जी के मन में जो इतना उद्वेग है वो शांत हो भरत जी के ऊपर जो कलंक लगा वो मिटे भरत जी को अपने कलंक के कारण जो व्यथा हो रही है अपने मन में वो भरत जी को शांत हो ये सब समझने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि भरत जी को भगवान श्री राम जी की सेवा में रहेंगे उनके साथ बन में जाएंगे तो उनको शांति और सुख हो जाएगा हम्म, तो ऐसा जनक जी कहते हैं ये बात तो सबके मन में है लेकिन देवी परंतु भरत रघुबर की ये परंतु के माने अब ये जनक जी की अपना विचार है जनक जी कहाँ तक विचार करते हैं उसके आगे वो बताते हैं कहते लेकिन बात यह है कि भरत रघुवर की प्रीति भगवान श्री राम जी के लक्ष्मण के जो प्रेम है तो प्रतीति प्रतीतमन विश्वास जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास है जाए नहीं तर्की वो तर्क की बातें नहीं है हम्म? तर्क के अतीत है ये तो हमारा तर्क है कि भरत जी उनके साथ जाए लक्ष्मण जी यहाँ पर आवे ऐसा करें वैसा करें तो कहते हैं लेकिन भरत जी और भगवान श्री राम जी के बीच में जैसा प्रेम है जैसा विश्वास है एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से निर्भर रहते हैं वो उसका आगे कुछ वर्णन भी करते हैं <clears throat> दिखाते हैं कि उनके इसका तात्पर्य क्या है कि भरत रघुवर की प्रीत प्रतीति ये किस प्रकार की है उसको स्पष्ट भी करते हैं आगे वो इस प्रकार की है कि भरत अवध स्नेह ममता की कि एक और तो भरत जी जो है वो स्नेह और ममता की की सीमा है मन बहुत अधिक उनमें भगवान राम के प्रति प्रेम है और भगवान राम के प्रति ममत्व है यहाँ ममता के माने लौकिक ममता नहीं है कि उनको ममता अपने परिवार से है और अपने संपत्ति से है राज्य से है उस ममता से यहाँ तात्पर्य नहीं है यहाँ भरत जी की जो ममता है भगवान राम में है जो स्नेह है वो भी भगवान राम में उसी तरह संकेत करके कहते हैं कहते हैं भरत जी के हृदय में भगवान राम के प्रति जैसा प्रेम है और उनके प्रति जैसी ममता है अपनापन के प्रति भगवान राम के है तो और दूसरी ओर क्या है यद्यपि राम सीम समता की और दूसरी ओर भगवान श्री राम जी जो वो समता की सीमा है मैंने भगवान राम समत्व निधान है मैंने सबके प्रति एक समान भाव रखने वाले हैं अब ये भगवान राम का समत्व गीता में भी भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि देखो समोहम सर्वभूतेशु हम समस्त प्राणियों में एक समान है सर्वत्र हम्म। भगवान राम भी उत्तरकांड में देखे चल करके जब जब कालभूषण जी से उनकी वार्ता होती है भगवान राम की वहां पर भी उनसे बता देते हैं कि देखो यद्यपि मैं सबके लिए सम हूं हम्म, क्यों सम हूं ये सब मम उपजाए सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं हम्म। सबके ऊपर मेरी समान सबसे प्रीति है लेकिन फिर भी विषमता भी बता देते हैं कि फिर इस समता के बीच बीच में विषमता भी है <coughs> विषमता क्या है तो ये बता देते जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में जितना ही आगे बढ़ा हुआ है भगवान कहते हैं वो मेरे उतना ही अधिक निकट है और वो मुझे उतना ही अधिक प्रिय भी है तो संकेत इधर की तरफ ही है कि यद्यपि राम सीम समता की यद्य भगवान राम समता की सीमा है तो भी भरत का प्रेम और भरत के ममत्व के कारण से भगवान श्री राम जी को भरत अत्यधिक प्रिय है यही सूचना परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने मनो निहारे अब भरत का प्रेम कैसा है भरत की ममता कैसी है इस पंक्ति में बताते हैं ये भरत ने परमार्थ स्वार्थ सुख सारे परमार्थ का और स्वार्थ के जो सुख जितने भी है मैंने लौकिक और पारलौकिक जो भी लाभ हो सकते हैं और जो भी सुख प्राप्त हो सकते हैं उन सबको भरत न सपने मना मनो निहारे माने भरत ने उनको सपने में भी अपने मन में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने देखो भगवान के प्रति भरत का ऐसा प्रेम है कि एक और संसार का प्रेम लौकिक भौतिक प्रेम हो भौतिक सुख हो और दूसरी तरफ भगवान राम हो तो भरत जी यही कहेंगे भगवान राम हमें प्रिय है भौतिक सुख हमें कोई सुखदायी नहीं है मैंने उसकी तरफ सपने में भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता उनको भगवान के प्रेम के कारण और ये तो भौतिक प्रेम की तो बात है ये सभी लोग जानते हैं परमात्मा के सामने भौतिक प्रेम भौतिक जगत के सुख है ही क्या और उनका प्रेम है ही क्या मिथ्या है सब बातें लेकिन परमार्थ की जब बात आती तब लगता परमार्थ तो भगवान स्वयं है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा तो कहते परमार्थ की जब बात आएगी तब क्या भरत जी को कोई परमार्थ की भी इच्छा नहीं तो भरत जी ये भी कह आए आज पिछले जो बात आई त्रिवेणी में खड़े होकर के स्नान करने के बाद प्रयाग में जो भरत जी ने कहा कि देखो ये तो धर्म है अर्थ है काम है इनके सबके सुख हैं और इनकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं हुँ? हम्म? और फिर उसके बाद में है भी है मोक्ष भी है हुँ? हम्म? लेकिन भरत जी वहां कहते हैं कि देखो हमको इनकी किसी की इच्छा नहीं एकमात्र भगवान पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति चाहिए भगवान राम की मुक्ति भी नहीं चाहिए जो मुक्ति का भी निरादर उन्होंने किया उसकी भी कामना नहीं करते हैं उसके लिए कहते हैं कि उन्होंने परमार्थ का भी परमार्थ से भी उन्होंने कोई प्रयोजन नहीं रखा है उसकी भी इच्छा नहीं है तो ये भक्तों का देखो महिमा का वर्णन ये है कि भक्त लोग हैं वो एक परमात्मा को छोड़ करके अन्य कुछ नहीं चाहते मुक्त भी नहीं चाहते हाँ, संसार के सुख दुख उनके छुटकारा बंधन वो कुछ नहीं चाहते अगर परमात्मा में परम भक्त है परमात्मा पर आश्रित रहने वाला है तो उसे व्यक्ति से कहें कि तुम स्वर्ग से आते हो कि नरक तो कह चाहे जो मिले चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हमें क्या करना उसे हमें तो परमात्मा की भक्ति चाहिए उसे न नरक से डर और न स्वर्ग की कामना हम्म? उसे कहे तुम मुक्ति चाहते हो कि बंधन कहे चाहे बंधन में चाहे मुक्ति में रहे लेकिन भगवान की भक्ति होनी चाहिए अगर भगवान की भक्ति है तो बंधन भी ठीक भगवान की भक्ति है तो मुक्ति भी थी और बिना भगवान की भक्ति के न मुक्ति किसी काम की और न बंधन किसी काम का ऐसा भाव भक्त का उसका वर्णन करते हैं परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने हो <clears throat> मन हो निहारे और साधन सिद्ध राम पगने हो भरत के लिए तो जो है वो भगवान श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही साधन भी है और सिद्ध भी है अब देखो अध्यात्म के क्षेत्र में दो बातें होती हैं एक तो साधन जब तक व्यक्ति साधना करते करते प्रयास करते करते मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता चला जा रहा है ये तो साधन हुआ और जब उस लक्ष्य पर पहुंच गया तो वो सिद्ध हो गया हुँ? हम्म? तो अब ये भरत जी के लिए साधन क्या है तो भगवान को छोड़ करके साधन भी कोई दूसरा नहीं भगवान के चरणों का जो प्रेम है वही उनके लिए साधन है और अगर साधन करते करते जब प्राप्त हुआ उनको अंत में लक्ष्य पहुंच गए तो क्या प्राप्त हुआ तो भी भगवान के चरणों का प्रेम ही प्राप्त हुआ तो लक्ष्य भी भगवान के चरणों का प्रेम और साधन भी भगवान के चरणों का प्रेम ऐसे भरत जी की भक्ति है साधन सिद्धि दोनों ही भगवान की भक्ति है तो कहते हैं साधन सिद्ध राम पगने और मोहिलक परत भरत मत ये कहते हमें तो भाई यही समझ में आता है कि भरत जी का मत ऐसा ही है उन्होंने ऐसी विचार कर रखा है एकमात्र भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है उनके चरणों का प्रेम ही सब कुछ है और उसके सामने उसकी तुलना में चाहे साधन हो चाहे सिद्धि हो चाहे लौकिक लाभ हो चाहे पारमार्थिक लाभ हो ये सब तुच्छ है उनकी कोई गणना नहीं है उनको सब उन्होंने सबका निरादर करके एकमात्र परमात्मा का ही प्रेम दृढ़ कर रखा है ठीक है ऐसे मुई लख परत भरत मत ही हूँ अब देखो भरत जी के इस प्रकार को देख कर कहते भरते हु भरत न पेली है और मनसो राम रजाए हम्म? भरत जी का ऐसा स्वभाव होने के कारण से भोरे हो के माने भोरे के माने लापरवाही में है? जब कभी कभी कोई व्यक्ति लापरवाही में भी होता है मैंने ध्यान नहीं देता तो भी कोई गलती से कोई कार्य कर जाता है तो ये कहने का मतलब भरत गलती से भी लापरवाही से भी कभी न पेली है मनसो राम रजाए भगवान श्री राम जी की जो आज्ञा होगी उस आज्ञा का विरोध भरत जी अपने मन में भी नहीं करेंगे आचरण में तो बाद में बात आई माने भरत जी वही करेंगे जो भगवान की इच्छा हो क्योंकि भरत ने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया समर्पित कर दिया है उन्हीं के चरणों में प्रेम है इसलिए जैसा भरत जैसा भगवान राम चाहेंगे वही भरत करेंगे अगर भगवान राम ये चाहते हैं कि भरत जी अयोध्या में रहें हमारे साथ न चले हाँ, तो भरत जी को वही मंजूर है क्योंकि वो भगवान के चरणों में भक्त हैं तो भक्त होने के नाते ये कैसे कह सकते हैं कि हम आपके भक्त तो हैं लेकिन हम करेंगे वही जो हम चाहते हैं आप जो चाहोगे वो हम थोड़े करेंगे तो फिर भक्त हुआ तो ये कहते हैं आप जो चाहोगे जिस प्रकार से आप तो होगा यही आगे चल करके जब बातचीत होगी तो देखेंगे भी इसी प्रकार से होगा भरत जी साफ साफ कहते हैं कि आप जैसा कहो वैसा हो और भगवान राम स्वयं कहते हैं भरत जी से कि तुम जैसा कहो वैसा हो हम कब कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो हम नहीं करेंगे हाँ, अगर भरत ये कह दें कि नहीं नहीं आप चलो अयोध्या तो भगवान कहते हैं चलो अयोध्या हमने कब कहा कि हम नहीं चलने को तैयार है लेकिन भरत जी अयोध्या में जाने के लिए भगवान राम से तब कहें जब देख लें भगवान राम का मन ऐसा है कि नहीं है जब देखे मैं संबंध ही नहीं तो कैसे कहे भरत जी कि तुम्हारे जाते ये बात तो ये कहते हैं भोरे भरत न पेली है मनसो राम रजाए और कहते हैं करी न सोच सन्नी है बस कहे भूप भी खाए तो भरत जी मैंने राजा जनक ने खूब विवल होकर के ये बात कही कि देखो व्यर्थ में सोच में पड़ने की जरूरत नहीं करी न सोच सन्नी है बस अब जैसी चिंता तुमको हो रही कि भरत जी का क्या होगा अगर भगवान राम से व्यक्त होकर के अयोध्या में रहना पड़ता है तो भरत के जीवन को हानि हो सकती है या भरत को बहुत परेशानी हो सकती है तो इन सब बातों में क्या रखा है होना वही है जो भगवान चाहते हैं वो होगा और भरत जी भगवान राम की आज्ञा के विरुद्ध कोई चाहेंगे नहीं इसलिए सब और बातें हम लोगों की व्यर्थ की बातें हैं उसकी चिंता हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए ये जनक जी का निर्णय अब देखो जनक जी का निर्णय भी कितना सस्त है मैंने कहा खूब विचार करके कहा बात भी सत्य इसी प्रकार के अंत में होता भी ऐसा ही है बात सुनैना जी की भी ठीक थी जो उन्होंने जब वहां से उनसे कहा कौशल्या जी से कि यादवल्क ने ऐसे कह करके रखा है कि वो तो भगवान का अवतार हुआ है और भगवान राम तो वन में जाएंगे सीता जी उनके साथ जाएंगी लक्ष्मण जी उनके साथ जाएंगी जब याद ने कहा तो होगा तो यही है अब मन में ये लगता है कहीं भरत जी के यहाँ रह जाने पर अयोध्या में रह जाने पर अन्य लोगों की बात है कि ये क्या होगा भरत जी रह जाएंगे तो उनका क्या होगा क्या होगा ये बात सब लोग सोचते हैं लेकिन होना तो ये सुनैना जी को भी मालूम था लेकिन कौशल्या जी के कहने पर सुनैना जी ने उनकी बात कह दी थी जानते हुए भी तो भी कह दी तो उसका उत्तर भी इस प्रकार से हो गया जनक जी ने भी कह दिया कि वही होना है जो भगवान श्री राम जी चाहेंगे उसमें किसी की और बुद्धि काम नहीं करेगी तर्क वितर्क वहां नहीं चलेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है और ये बात ये कहो कि कौशल्या जी कुछ नहीं जानती थी तब उन्होंने भरत जी को बन, उनके साथ भगवान श्री राम जी को भेजने के लिए कहा ये बात भी नहीं कौशल्या जी भी जानती थी शुरू शुरू में कौशल्या जी ने अपनी बात प्रारंभ की तो यही कहा कि देखो भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी बन जाते हैं अच्छा है वो वहां जाएंगे तो उसमें हित ही है लौट करके आएंगे फिर अयोध्या के राजा बनेंगे और ये सब देवताओं का इनका सबका लाभ होगा ये कौशल्या जी जानती थी लेकिन फिर भी उनको ये भरत के ऊपर अत्यधिक प्रेम होने के कारण से कौशल्या माँ को भरत की चिंता हुई तब कौशल्या जी ने इस प्रकार की बात बोल दी तो उसी बात को लेकर के कौशल्या जी ने क्यों ऐसी बात कही ये सुनैना जी ऐसी बात क्यों कहती है भरत जी भगवान श्री राम की जाता है साथ जाए तो वो कहते हैं कि स्नेह है बस ये कहते हैं करिए ना सोच स्नेह है बस जब व्यक्ति स्नेह में अधिक होता है प्रेम के कारण होता है तब ऐसी प्रकल्पनाएं करता है लेकिन वो होती निराधार है उनका कोई तत्व नहीं है हम्म? इसलिए उसका सोच नहीं करना चाहिए स्नेह के कारण ऐसी बात आ गई <coughs> ऐसे जनक जी ने समझा दिया उसके बाद फिर अब देखते हैं कि ये अब कल देखेंगे कि ये रात्रि की बात जो इनकी सुनैना जी की और जनक जी की थी वो इस प्रकार से पूरी हुई और दूसरे दिन का कार्यक्रम क्या होता है तो अब देखो आगे चल करके सभाएं बैठनी है उसकी वातावरण बनना है तो अब सब जो है सब इकट्ठे होकर के अगले दिन फिर बातचीत करेंगे वो सब प्रसंग आएगा नान्या स्प्रिया रघुपते रयस मदीये सत्यम बदा च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम